वो अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करता है जो ना उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं ना कोई फायदा दे सकते हैं यही तो परले दर्जे की गुमराही है